نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم अकीदत और मोहब्बत के साथ आक़द जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसल्लम पर दरूद व सलाम पढ़िए اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله अल्लाह रब्लमीन का करम है कि अल्लाह ताला ने हमारे दिल में कुरान और हदीस की महब्बत अता फरमाई और यही मोहब्बत है जो हमें इस मौसम में भी कुरान और हदीस की बातें सुनने के लिए यहाँ पर ले आई इस पर हम अल्लाह ताला का जिस कदर शुक्र करें कम है यकीनन कामयाब हैं वो लोग कि जो दीन की खातिर तकालीफ बर्दाश्त करते हैं आपका आना मुबारक है आपका जाना मुबारक है बस एक आज़म कर लीजिए कि जब अल्लाह तबारक व ताली की रहमत बरस रही हो और रहमतों की बारिशें ज़ाहरी और बातनी हो रही हों तो इन अज़ वजल हम कुरान हदीस की बातें सुनने से पीछे नहीं हटेंगे और बारिश अगर हुई तो भी इन अज़ वजल कुरान हदीस की बातें इसी तरह दिल जमाई और ओक़ व शौक़ के साथ इन समात करेंगे अल्लाह रब्बुल अपने प्यारे कलाम में इशाद फरमाता है सूरतुल आयत नंबर तेरासी सातवां पारा पहला रुकू वईदा समयू मा उन जिला इला वसूली तफीद मिनदम कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन के प्यारे कलाम को ये लोग समात करते हैं तो तुम इनकी आंखें देखो इनकी आंखें आंसुओं से तर हो चुकी हैं मोहतरम प्यारे भाइयों इस आयत करीमा में कुरान मजीद फ़ुकान हमीद की तासीर को बयान किया गया और इस आयत करीमा का शान नजूल ये है कि नजाशी बादशाह के दरबार में जब कुरान पढ़ा गया तो नजाशी बादशाह और ईसाई राहिब जारो कतार रोने लगे तो जब कुरान पाक की ये तासीर है कि अगर गैर मुस्लिम कुरान को सुने तो कुरान उस पर भी असर करता है तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तो मुसलमान हैं कुरान मजीद फ़ुकान हमीद से मोहब्बत करने वाले हैं इन शजल आज का जो बयान है हम तवज्जो से समाध करेंगे और कुरान मजीद फ़ुकान हमीद की तासीर की बरकतों से इन हमारी ज़िंदगी में एक एक इस्लामी इनकलाब बर्पा होगा यही कुरान है कि जिसकी बदौलत मुसलमानों ने हमेशा गलबा कामयाबी फतह और अरूज को हासिल किया और ये कुरान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतलब इशाद फरमाता है वयुज़कीहिम महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों का तजकिया नफ्स फरमाते हैं ज़ाहिरी और बातनी सफाई फरमाते हैं तो कुरान के नूर से और अहदीस तय्यबा के फैज़ से इन हम तजकिया नफ्स करेंगे और एक ख़तरनाक मर्ज़ जो तस्किया नफ्स में सबसे बड़ी रुकावट है और वो मर्ज कि जिसने हमें तबाह बर्बाद कर दिया जिसका उन्वान है मीठा जहर ये है बहुत मीठा मगर तासीर में जहर है ये मीठा जहर ये एक ऐसा उन्वान है कि जिसने आज मुसलमानों को दीन से दूर कर दिया ये मीठा जहर ऐसा उन्वान है कि जिसने आज मुसलमानों में मोहब्बतें उल्फतों को ख़त्म कर दिया ये मीठा जहर वो उन्वान है कि जिसकी वजह से इंसान अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करता है सोचें ज़रा मीठा भी है और जहर भी है इसी का नाम धोखा है और सबसे बड़ा धोखा जो है जो मीठा जहर है और हमारा उन्वान है वो है दुनिया की मोहब्बत दुनिया को तरजीह देना दुनिया पर मर मिटने का जज्बा होना दुनिया की मोहब्बत को कुरान मजीद फ़ुकान हमीद ने इशाद फरमाया अमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर कि दुनिया की जिंदगी धोखे का सामान है यही तो धोखा है कुरान मजीद फ़ुकान हमीद दुनिया की जिंदगी को और दुनिया की मोहब्बत को धोखा करार देता है कुरान मजीद फ़ुकान हमीद से जब हम इस बात को समझने में कामयाब हो जाएं कि दुनिया की मोहब्बत एक बहुत बड़ा धोखा है आइए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते हैं अल्लाह तबारा का बताना हकीम है रबालमीन ने हमत के ख़जाने अपने अम्बिया को दिए और तमाम अम्बिया में जो मुमताज़ हैं हमत दानाई कमाल शफकत में सबसे बुलंदोबाला हैं हमारे आका प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में चलें और आपकी अहादीस से इस मीठे जहर इस धोखे को इस दुनिया की मोहब्बत के अंजाम को और इसकी हकीकत को समाप्त कीजिए कौला अबू हुरेरता रदी अल्लाह तहु कौल ली रसूल सल्लल्लाहु अलैहि या अबा हुरेरता हजरत अबू हुरेरा कहते हैं कि नबी अक्रम सल्हसम ने मुझसे फरमाया ए अबू हुरेरा इस हदीस पाक को बड़े तवज्जो से सुनिएगा कि दर हकीकत ये दुनिया की मोहब्बत के नुकसान अगर हमारी समझ में आ जाएं और इस मीठे जहर इस धोखे को हम समझने में कामयाब हो जाएं तो इन ताला दुनिया और आखरत की भलाइयां नसीब होंगी आपने फरमाया ए अबू हुरेरा अला उरी का दुनिया जमी आहा बिमा हा ए अबू हुरेरा क्या मैं तुझे सारी दुनिया एक दफा में दिखा दू ए अबू हुरेरा क्या मैं सारी दुनिया तुझे एक ही दफा में दिखा दूं फकुल तो बला या रसूल अल्लाह मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर दिखाइए आप फरमाते हैं कि हुजूर ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे मदीने तय्यबा की एक वादी में ले आए वहां एक कूरे करकट के ढेर पर ले आए जिसमें इंसानी खोपड़ियां गंदगी पुराने कपड़े और हड्डियां पड़ी हुई थीं फिर फरमाया या अबा हो रे रहता हाज ही रूस कान ताहरिसु ए अबू हुरेरा ये खोपड़ियां ये ऐसे सर थे कि जो लालच किया करते थे वतामुलू का अमलिकुम और लंबी लंबी उम्मीदें किया करते थे सुम यौमाम बिला जिल्दिन और आज ये खोपड़ियां हड्डियां हैं जिन पर खाल भी नहीं है सुमहिय सौरतुन रमादन और अन करीब ये खोपड़ियां राख हो जाएंगी खाक हो जाएंगी वहां दिल तो फिर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ने गंदगी के एक ढेर की तरफ इशारा किया और फरमाया किया अलवान आतमाती हिम ए अबू हुरेरा ये तुम्हारे लजीज खानों के रंग थे रंग हैं ये रंग और किस्म किस्म के खाने थे एक तसबूहा मिन हईस इक तसबूहा बड़ी मेहनत और मुशक्क़त से तुमने इन खानों को हासिल किया तुम कदफूहा और फिर तुमने इसे अपने पेट में डाला फी बतून हिम फासबहत और आज इसकी ये हालत हो गई है वन्नास यतहामूहा कि लोग इसे घिन खाते हैं और नफरत करते हैं फिर हुजूर ने कपड़ों के चीथरों की तरफ इशारा किया वहादिल खीरकुल बालियतु ए अबू हुरेरा ये पुराने बोसीदा कपड़ों के चीथरे कानत रियाशहम व लिबासहम ये तुम्हारे लिबास थे फसबहत व रियाह तस्फ़ा पर आज हवा इन चीथरों को उड़ा रही है वहा दीन अवाम अवाम दवाब बिहिम और फिर फरमाया ये हड्डियाँ जानवरों की हड्डियाँ हैं अल्लती कानू यन तजन अतराफल बिलादी कि जिस पर बैठकर लोग बड़े फ़ख्र के साथ शहर ब शहर फिरा करते थे फमन का नबाकियन आलत दुनिया तो जो ये चाहे कि वो दुनिया पर रोए फल यब की उसे चाहिए कि इस पर रोना चाहिए कल अबू हुररत फमा बरहना हत्ता इश्तद बुका उना हजरत अबू हुरेरा कहते हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पूरी दुनिया का नक्शा एक साथ खींच दिया और फिर फरमाया कि रोने वाले को इस दुनिया पर रोना चाहिए अबू हुरेरा कहते हैं कि हम वहां से न हटे जब तक जारो कतार हम न रोए मैं भी रोता रहा और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी काफ़ी देर तक रोते रहे अल्लाह अकबर ज़रा गौर करें आज हम गौर करें तो दुनिया की जो हकीकत है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही हदीस में पूरी दुनिया को बयान कर दिया आज जो हम भागदौड़ करते हैं उसकी सबसे बड़ी वजह हमारे जहनों में हमारे दिमागों में लालच है बड़ी बड़ी उम्मीदें हैं और इसी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन खोपड़ियों की तरफ इशारा किया और फरमाया अन करीब ये खोपड़ियां जो हैं जैसे ये खोपड़ियां हैं वैसे ही हमारा हाल होना है और फिर दुनिया के अजीम शान खाने जिनकी खातिर तगोदो और मेहनतें की जाती हैं उन खानों का क्या हशर होता है हुजूर ने बयान फरमाया दुनिया अल्लाह के नजदीक किस कदर हकीर और जलील है हदीस पाक से समाप्त कीजिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मुर्दा बकरी के पास से गुजरे आपने फरमाया ए लोगों क्या तुम जानते हो कि ये बकरी अपने घर वालों के नजदीक किस कदर हकीर है उन्होंने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मुर्दा बकरी हकीर है बेकार है तभी तो लोगों ने फेंक दिया कल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशाद फरमाया वल्लजी नफसी बियदी लिदुनिया अहबन मिनहाद ही शाति आला अहलिहा उस जात की कसम जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है लोगों पर बकरी जिस कदर बेवकत और जलील है बकरी की कोई हैसियत नहीं कोई अपने घर पे रखने को तैयार नहीं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इससे ज़्यादा बेवकत अल्लाह रबालमीन की बारगाह में दुनिया है वलव कानत दुनिया तादिल इंद जनाह बहूदतिन मा सका काफिर मिनहा शुरबत माइन आपने फरमाया अगर दुनिया की वक़त वैल्यू अल्लाह के नज़दीक मच्छर के पर के बराबर भी होती मा सका काफिरन मिनहा शुरबत तमाइन तो अल्लाह तबारक वाला किसी काफिर को एक घूट पानी भी ना देता मतलब प्यारे भाइयों जब हम दीनी महफिल में हाजिर होते हैं तो सुनने का अपना अपना अंदाज होता है काश हम ये अंदाज बना लें कि ये बयान हमारे लिए किया जा रहा है और एक एक रिवायत और एक और एक एक आयत पर हमें गौर करना है अपना मुहासबा करना है और अपने अंदर एक इस्लामी इनकलाब बर्पा करना है आप ज़रा गौर करें कि जिस रबालमीन के नज़दीक दुनिया बेबुकत है इसकी कोई हैसियत नहीं आज हमारे नज़दीक दुनिया की कितनी अहमियत है दुनिया आ जाए तो खुश हो जाते हैं दुनिया चली जाए तो रंजीदा हो जाते हैं बल्कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो दुनिया को ईमान का दुश्मन करार दिया फरमाया लता न कुम बादी दुनिया तकुलु ईमान कुम कमाता कुल नारुल हतब आपने फरमाया मेरे बाद तुम्हारे पास दुनिया आएगी और तुम्हारे ईमान को ऐसे खा जाएगी जैसे आग लकड़ी को खा जाती है अकेद जहां सल्लल्लाहु वसलम ने दुनिया की हकीकत और इसका हकीर और कमतर होना बड़े ही आसान अंदाज में समझाया आपने फरमाया मत दुनिया फिल आखिरत मिस लो आपने फरमाया अल्लाह की कसम दुनिया की हैसियत आखिरत के मुकाबले में ऐसी है माँ दुकुम सिब आहू फिल यम्मी फल यंजुर बीमा यर्जियों अब फरमाते हैं कि अगर कोई बहुत बड़े समंदर में दरिया में अपनी उंगली डाले और फिर उंगली को निकाले तो इस उंगली पर कितना पानी आ जाएगा तो उंगली पर जो पानी है समंदर और दरिया के मुकाबले में उस पानी की क्या हैसियत है कोई हैसियत नहीं समंदर में तो पानी का जखीरा मौजूद है और उंगली पर जो पानी मौजूद है उंगली डालने के बाद जो पानी उंगली पर लगा रह गया आपने फरमाया दुनिया आखरत के मुकाबले में इससे भी कमतर है हजरत इमाम गजाली रहमा फरमाते हैं कि अगर सारी दुनिया की ज़मीन अनाज के दानों से भरी हुई हो और एक परिंदा आए और एक हजार साल के बाद एक दाना उठाकर ले जाए तो आप फरमाते हैं ये बताओ कि सारे दाने अनाज के कितने सालों में उठ जाएंगे अब हम सोचें कि ये जो शहजादा लॉन है इसी के अंदर अगर अनाज के दाने भर दिए जाएं तो लाखों करोड़ों अरबों दाने आ जाएं तो पूरी कायनात पर कितने दाने होंगे पूरी जमीन पर और फरमाते हैं एक परिंदा एक हजार साल के बाद आए और एक दाना उठा के जाए आप फरमाते हैं ये बताओ कि सारे दाने कब उठ जाएंगे अल्लाह अकबर हजरत इमाम गजाली रहा फरमाते हैं कि कभी ना कभी दानों के उठने का इम्कान है लेकिन आखरत की जिंदगी इससे भी वसी है कि करोड़ अरब खरब साल भी नहीं वो हमेशा हमेशा की जिंदगी है और दुनिया की जिंदगी चालीस साल पचास साल साठ साल सत्तर साल अब हमने अपनी ज़िंदगी गुजार ली अब हमें नहीं मालूम कि अब हमारी ज़िंदगी के कितने साल बाकी हैं और ये चालीस पचास साल तो कहने की बातें हैं वरना एक लम्हे का मालूम नहीं हम में से कोई कसम खाकर यकीन के साथ ये बात नहीं कह सकता कि हम इस मजलिस से उठकर अपने घर पहुंच सकेंगे सुबह का सूरज देख सकेंगे जब दुनिया इतनी बेबुकत है बेएतबार है फानी है तो बंदा आखरत को छोड़कर दुनिया को फोकियत दे और तरजीह दे हजरत नो आला नबीना वाली सलात वसलाम ने एक हजार साल से जायद उम्र पाई साढ़े नौ सौ साल आपने तबलीग फरमाई जब आपका विशाल हो गया तो आपसे पूछा गया कि आपने दुनिया को कैसा पाया तो आपने फरमाया कि मैंने दुनिया को ऐसा पाया एक हजार साल से जायद उम्र आपकी हुई है आप फरमाते मैंने दुनिया को ऐसा पाया कि एक छोटा सा मकान हो उसके दो दरवाजे हों एक दरवाजे से कोई दाखिल हो और बगैर रुके दूसरे दरवाजे से बाहर निकल जाए मैंने दुनिया को इतना बेबुकत पाया कुरान मजीद फ़ोकान हमीद इशाद फरमाता है सूरतमिन आयत नंबर एक सौ बारह कौल कम लबिस तुम फिल आरदी आदत सिनीन कल बरोज़ क़्यामत अल्लाह रबालमीन लोगों से फरमाएगा ये बताओ तुम दुनिया में कितने साल रहे कालू लबिसना यौमन अवबाद यौम वो जब आखिरत में पहुंचेंगे और आखरत की वसतों को देखेंगे तो इस मुकाबले में दुनिया बड़ी हकीर महसूस होगी तो वो कहेंगे मालिक को मौला हम शायद दुनिया में एक दिन रहे हैं बल्कि एक दिन से भी कम रहे हैं फस अल आदीन हमें नहीं मालूम गिनती शुमार करने वालों से पूछ ले ए मालिक मौला तू उनसे दरियाफ्त कर ले कौला अल्लाह ताला फरमाएगा इबिज तुम इल्ला कलील लव अन्नकुम कुन तुम तालमून हकीकत यह है कि तुम दुनिया में बहुत थोड़े रहे हो लेकिन काश तुम्हें यह हकीकत पहले मालूम हो जाती कि दुनिया की हकीर जिंदगी है वो फानी है आखरत के मुकाबले में उसकी कोई हैसियत नहीं इंसान अपना माल माल करता है मेरा माल मेरा माल मेरा बैंक बैलेंस मेरी कोठियां मेरे बंगले मेरी कारें उसी पर फख्र किया जाता है उसी पर जुल्म और सितम की आंधियां चलाई जाती हैं उसी पर इंसान गुरूर और तकबर का शिकार हो जाता है अपने रब को भूल जाता है गुनाहों में पड़ जाता है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस माल की हकीकत को बयान किया आपने फरमाया अतई तुम नबी यक यकर हज़रत अब्दुल्ला बिन शखीर आप फरमाते हैं कि मैं हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ वह यकर अल्हाकुम तकासुर हतासुर तुमकाबिर जब मैं हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ तो हुजूर कुरान की इस आयत की तिलावत फरमा रहे थे माल और औलाद की कसरत की ख्वाहिश ने तुम्हें बर्बाद कर दिया अल्लाह कुमुत तकासुर माल की ख्वाहिश कसरत की ख्वाहिश हता जुर तुमुल मकाबिर यहां तक कि तुमने कब्रों का मुंह देख लिया इस आयत की तिलावत फरमा रहे हैं फिर आप फरमाते हैं यकूल इब्न आदम माली माली इंसान कहता है मेरा माल मेरा माल मेरा बैंक बैलेंस मेरी दुकान मेरा कारोबार मेरा बंगला मेरी इज्जत मेरा मनसब इंसान कहता है माली माली मेरा माल मेरा माल वहल का यबन आदम में मालिका आपने फरमा इंसान का माल तो सिर्फ वही है अकल ता फफ नहीं था जिसे तूने खा लिया और फना कर दिया वो तेरा माल है औ लबिस्ता फ अब और जो पहनकर पुराना कर दिया वो तेरा माल है औ तसदकता फमदईता और जो तूने सदका कर दिया और रब की बारगाह में भेज दिया वो तेरा असल माल है और बाकी माल तेरा नहीं तेरे वरसा का है हकीकत यही है बैंक में करोड़ों रुपए पड़े हों दस बंगले हों हजारों प्लॉट्स हों अरबपति आदमी हो लेकिन अगर आंख बंद हो जाए तो बताइए उसका माल तो नहीं है उसके वरसा का माल है और आंख बंद होते देर भी नहीं लगती हमें नहीं मालूम कि हमारे जिसम में कौन से जरासीम परवरिश पा रहे हैं हमें नहीं मालूम कि हमारे मुकद्दर में कौन सी बीमारी लिखी हुई है कौन सा हादसा लिखा है कौन सा दिन हमारी मौत का दिन है लम्हा ब लम्हा हम मौत के करीब होते जा रहे हैं यकीनन कामयाब वही है जो इस माल को सदका कर कर रब्बुल आलमीन की बारगाह में भेज कर अपने माल को महफूज कर ले क्या फरमाया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुजूर ने कितनी प्यारी सोच अता फरमाई हजरत आयशा फरमाती हैं कि हमारे घर में बकरी ज़िबा हुई और बकरी को पकाया गया और दिन भर हम सदका देते रहे खैरात करते रहे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और आपने पूछा ए आयशा बकरी में से क्या बच गया बकरी में से क्या बच गया मैंने अर्ज किया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब कुछ तो अल्लाह की राह में दे दिया अब एक दस्ती बच गई है कितनी प्यारी सोच हुजूर ने इशाद फरमाई कितनी प्यारी सोच अता फरमाई आपने फरमाई यू मत कहो बल्कि यूं कहो सब कुछ बच गया एक दस्ती फना हो गई कि जो हम खाएंगे वो फना हो जाएगा और जो अल्लाह की राह में दे दिया वो बाकी रहने वाला है अला इन दुनिया तुन सुन लो पूरी दुनिया मलऊन है लानती है वह ओन माफी और जो कुछ दुनिया में है सब मलऊन है इल्ला जिक्र अल्लाह मगर वो काम जिसमें अल्लाह की याद की जाए वमा हो और नेक आमाल तो नेक आमाल अल्लाह की याद और दुनिया की वो चीज़ें जो अल्लाह की तरफ ले जाती हैं आपने फरमाया उसको छोड़कर पूरी दुनिया मलून है इस हदीस की शरह में फरमाते हैं मतलब ये है कि दुनिया से हमारी मुराद जब भी हम दुनिया की मजम्मत करते हैं तो दुनिया से हमारी मुराद होती है हर वो चीज़ जो अल्लाह की याद से गाफिल कर दे और जो चीज़ हमें अल्लाह की तरफ ले जाए वो दुनिया नहीं है वो भी आखरत है वो भी अल्लाह की याद है और वो भी बड़ी बरकतों वाली चीज़ है मसलन अगर कोई शख्स खाना खाता है और खाना बकदर ज़रूरत खाता है हलाल कमाई से खाता है फजूल खर्ची नहीं करता सुन्नतों को मलहूज रखकर खाना खाता है और नीयत यह है कि मेरी सेहत अच्छी हो मुझे क़वत मिले ताकि मुझे आज रात तहजद की नमाज़ पढ़नी है मैं अल्लाह की इबादत कर सकूँ रमज़ान आने वाला है मैं अपनी सेहत का ख्याल रखूँ मुझे यादगार रमज़ान गुजारना है तो फिर ये खाना और अपनी सेहत का लिहाज रखना यह दुनिया नहीं है बल्कि आखरत है नबी अकरम सल्लल्लाहु वसल्लम ने एक शख्स को देखा कि वो भागा भागा जा रहा है साबा कराम अली मुरिदवान ने अर्ज किया रसूल सल्लाह वसलम ये जिस तरह दुनिया के लिए भाग रहा है काश वह आखरत के लिए भागता हजूर ने फरमा इस तरह मत कहो अगर ये इसलिए जा रहा है कि रिस्क हलाल कमाए और किसी का मोहताज ना हो उसकी औलाद किसी की मोहताज ना हो वो अपने रिश्तेदारों की खिदमत करे उनकी ज़रूरियात पूरी करे गरीबों की मदद करे और वो रिस्क हलाल कमा रहा है फ़रज़ वाजिबात की अदायगी के साथ तो आपने फरमाया कि ये शैतान की राह में नहीं है बल्कि ये रिस्क हलाल कमाना भी अल्लाह की राह और आपने फरमाया अगर माल के लालच में भाग रहा है माल जमा करना मकसूद है हिर्स है तो फिर आपने फरमाया ये शैतान की राह है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशाद फरमाया कि जब मोमिन बंदा दस्तरखान पर बैठता है और अपने बी बच्चों के साथ बैठकर खाना खाता है रिस्क हलाल का पहला लुकमा जब वो अपने पेट में डालता है तो लुकमे के पेट में जाने से पहले अल्लाह ताला सब की मगफरत फरमा देता तो पता ये चला कि हरगिस इन बातों का ये मतलब नहीं कि हम दुनिया से ताल्लुक तोड़ दें जंगलों वीरानों में चले जाए गारों में चले जाए रोजी कमाना तालीम हासिल करना शादी करना बाल बच्चों की परवरिश करना छोड़ दें हरगिस हरगिस इन बातों का ये मतलब नहीं है बल्कि जब भी दुनिया की मजम्मत की जाती है तो इससे मुराद यह है कि इंसान दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार न हो जाए इंसान दुनिया की मोहब्बत में आकर अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी न ना करे नमाजों को कज़ा न करे हराम में मुबतला न हो जाए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इशादात की रोशनी में हमें अपने आप को संवारना है दुनिया की बुराई से दामन को बचाना है फिर ये दुनिया मीठा जहर नहीं है अगर हम इस लॉजिक को समझ गए इस कॉन्सेप्ट को समझ गए कि शरीयत की पाबंदी करनी है अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी नहीं करनी दुनिया की मोहब्बत से ज्यादा मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल से करनी है दुनिया की मोहब्बत की खातिर गुना नहीं करने दुनिया को ठुकरा देना है रब के फरमान को नहीं ठुकराना जब ये समझने में कामयाब हो गए और एक पाकिजा जिंदगी हमने गुजारी तो ये दुनिया हमारे लिए मीठा जहर नहीं होगा बल्कि इन ये दुनिया हमें मीठी जन्नत में ले जाने का जरिया और वसीला बन जाएगी वाकई दुनिया की हर चीज बुरी नहीं है हजरत इमाम गजाली रहमा जो तसवुफ के इमाम हैं आपने फरमाया असल जो बुराई है वो दुनिया की मोहब्बत है बाज ऐसे लोग होते हैं आपने फरमाया कि बाज ऐसे लोग होते हैं जो झोपड़ियों में होते हैं जंगलों वीरानों में होते हैं लेकिन दिल में दुनिया होती है दुनिया की मोहब्बत पड़ी होती है और बाज ऐसे अल्लाह के नेक बंदे होते हैं कि दुकानों पर होते हैं कारोबार पर होते हैं लेकिन दिल में दुनिया की मोहब्बत नहीं होती अल्लाह की मोहब्बत होती है वो कारोबार पर बैठकर भी दीन की खिदमत करते हैं कारोबार पर बैठकर लोगों को नमाज की दावत देते हैं अभी चंद दिन पहले एक भाई मुझे मिले उन्होंने मुझे कहा कि मैंने दीन की तबलीग का ये जरिया अपनाया है कि मैं दयानतदारी से कारोबार करता हूं असली या नकली माल की पहचान लोगों को बताता हूं पाकिस्तानी या इंपोर्टेड जो माल है उसकी वजाहत करता हूँ नफ़ा कुछ कम लेता हूँ हुसन अखलाक से पेश आता हूँ लोग बड़े मुतासर होते हैं फिर मैं इस मुतासर होने से ये फ़ायदा उठाता हूँ कि इन्हें नमाज की दावत देता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों भाइयों को मैंने नमाजी बना दिया अब बताइए ये दुका, ये दुकान पर बैठना दुनिया ना हुआ बल्कि दीन के लिए बैठना हुआ और इनकी ये सोच है बड़ी प्यारी सोच है वो कहते हैं कि दुकान पर हर किस्म के लोग आते हैं और दुकान पर अक्सर वो लोग आते हैं जो नमाजी नहीं होते तो दुकान पर बैठकर मैं ज्यादा लोगों को नमाज की दावत दे सकता हूं तो ये सोच बन जाए और इंसान अपने दिल से दुनिया की मोहब्बत निकाल दे तो फिर ये दुनिया काबिल मजम्मत नहीं बल्कि जन्नत में जाने का जरिया बन जाती आपने वो हदीसी बात तो सुनी होगी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दो आदमियों पर रश करना चाहिए यानी ये तमन्ना करनी चाहिए कि अल्लाह हमें भी ऐसा बना दे आप फरमाया एक तो वो जिसे अल्लाह ने कुरान का इल्म दिया वो दिन रात कुरान की तालीम को आम कर रहा और दूसरा वो शख्स जिसे अल्लाह ने माल दिया वो दिन रात वो माल अल्लाह की राह में खर्च कर रहा है आपने फरमाया उसे देखकर यह तमन्ना करनी चाहिए कि मालिक को मौला मुझे भी ऐसा बना दो तो पता ही चला कि माल यह दुनिया की मुतलकन मजम्मत नहीं बल्कि यह माल बसा औकात अल्लाह का फजल भी होता है महाजरीन फकरा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और अर्ज गुजार हुआ या रसोल्ला सल्लल्लाहु मालदार लोग हमसे आगे निकल गए हजूर ने फरमाया वो कैसे वो कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितनी हम नेकियां करते हैं सारी वो नेकियां भी करते हैं वो रातों को क़याम करते हैं दिन को कुरान की तिलावत करते हैं नमाज भी पढ़ते हैं रोज़ा भी रखते हैं हदीस का खुलासा पेश कर रहा हूं तो इसमें तो हम दोनों बराबर हैं लेकिन वो अल्लाह की राह में माल खर्च करते हैं और हमारे पास माल नहीं है तो आपने फरमाया मैं तुम्हें एक ऐसी तस्वीर सिखाता हूं कि तुम वो पढ़ोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें मालदारों से आगे कर देगा आपने फरमाया हर नमाज के बाद तैंतीस मरतबा सुबह अल्लाह तैंतीस मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और चौंतीस मरतबा अल्लाह अकबर साहबा कराम पढ़ने लगे फिर चंद दिन गुजरे तो साहबा कराम हजूर की बारगाह में फिर आए अर्ज गुजार हो या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि मालदार साहबा हमसे आगे निकल गए क्योंकि इस तस्वीर का भी उन्हें इल्म हो गया अब वो ये तस्वीर भी पढ़ने लगे तो अब ये और हम बराबर हो गए तो आपने फरमाया अली का फजल्ला ये अल्लाह का फजल है अल्लाह ताला जिसे चाहे अता फरमाए तो गोया कि माल मौजूद हो बंदा उसके हकूक अदा करे और शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे खूब नेकियां करे और खूब माल अल्लाह की राह में दे तो ये माल उसके लिए रहमत बन जाता है हज़रत इमाम बुखारी रहमा हज़रत अनस के बारे में रिवायत करते हैं कि उम्म सलेम हजरत अनस की वालदा हजूर की बारगाह में आई और कहने लगी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अनस के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला इसकी माल और औलाद में बरकतें दे तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अनस के लिए माल और औलाद की दुआएं की इसी तरह हजरत उमर रदी अल्लाह तु को हजूर ने फरमाया ए उमर यह माल ले लो तो हजरत उमर ने कहा या रसूल अल्लाह मुझसे ज़्यादा किसी मोहताज को दे दें हजूर ने फिर दोबारा फरमाया ए उमर ये माल ले लो आपने अर्ज किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे ज़्यादा कोई और मोहताज हो उसे दे दें हुजूर ने फरमाया ए उमर ये माल ले लो जब तुम्हारे पास माल आए और तुम्हारे दिल में लालच ना हो और बगैर सवाल के तुम हासिल करो तो फिर उसके लेने में कोई हरज नहीं हजरत हकीम बिन हिजाम कहते हैं कि जो शख्स इस दुनिया के माल को हुजूर ने फरमाया जो शख्स इस दुनिया के माल को बगैर लालच के लेगा अल्लाह ताला उसके माल में बरकत अता फरमाएगा और जो माल का लालची हो जाएगा अल्लाह ताला उसे बरकत नहीं देगा वह इस तरह होगा जैसे कोई शख्स खाना खाता हो और पेट ना भरता हो ऐसा ही हाल उसका हो जाएगा मतनों प्यारे भाइयों इन तमाम रिवायतों को पेश करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि जहां भी कुरान हदीस में माल की दुनिया की मजम्मत की गई उससे यही मुराद है कि दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करना हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तु को ले लीजिए अब मुझे बताइए हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तु कितने मालदार थे इतने मालदार थे कि पूरे पाकिस्तान के बड़े से बड़े मालदार उनके मालदारी का मुकाबला नहीं कर सकते लेकिन क्या आप उनको दुनियादार कहेंगे हरगिज नहीं हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तु वो सहाबी रसूल हैं कि जिन्होंने दुनिया में रहकर अल्लाह की राह में माल खर्च करके दुनिया में रहकर आखरत का सौदा कर लिया और किस मकाम पर पहुंचे आप फरमाते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्ताही मिनहुल मलाइका हजरत उस्मान गनी वो हैं जिनसे फरिश्ते हया करते हैं फरिश्ते भी उनका अदब एहतराम करते हैं फरमा लिकुल नबी रफ़ीक करोड़पति अरबपति से भी ज्यादा हजरत उस्मान गनी मालदार है लेकिन हुजूर फरमाते हैं लिकुल नबी रफ़ीक हर नबी का जन्नत में एक रफ़ीक और साथी होगा वह रफीकी उस्मान और मेरी मेरा जन्नत में साथी हजरत उस्मान होंगे गजब तबू के मौके पर आपने सौ ऊंट हुजूर की बारगाह में पेश किए हुजूर ने फरमाया आपने माल अल्लाह की राह में देने की और तरगीब दी तो हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तहों ने अर्ज किया रसूल अल्लाह दो सौ ऊंट हजूर ने मजीद माल की तरगीब दी हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तु अर्ज की तीन सौ ऊंट इस मौके पर हजूर ने फरमाया माँ आला उस्माना माँ अमिला बादी आज के बाद हजरत उस्मान को कोई अमल नुकसान नहीं देगा और तिरमिजी की रिवायत है कि हजार अशरफियां सोने की अशरफियां हजार अशरफी का मतलब होता है चार किलो सोना एक अशरफी तकरीबन चार ग्राम से जायद की होती है तो चार साढ़े चार किलो सोना हुजूर की बारगाह में पेश किया हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ने तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो मरतबा आपको जन्नत की बिशारत अता फरमाई बैत रिजवान के मौके पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दाएं हाथ को बाएं हाथ पर रखा और फिर फरमाया ये मेरा हाथ हजरत उस्मान गनी का हाथ है अपने हाथ को हजरत उस्मान गनी के हाथ से आपने तशबी दी इसी वजह से साहबा कराम अपने हाथों के मुकाबले में हजरत उस्मान गनी के हाथ को अफजल समझते थे मस्जिद नबी शरीफ के लिए जगह की जरूरत हुई तो हजूर ने फरमाया कौन है कि जो मस्जिद नबी के लिए जगह पेश करे और उसके बदले जन्नत में आला जगह हासिल कर ले तो हजरत उस्मान गनी ने मस्जिद नबी के लिए जगह पेश की जब वीर रूमा वो मदीने का कुआं जो मदीने में एक ही मीठा कुआं था जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह को और दीगर साहबा कराम को इस कुएं के खरीदने की तरगीब दी तो हजरत उस्मान गनी ने इस कुएं को खरीद कर जन्नत का सौदा कर लिया आप मुझे बताइए क्या हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तु को क्या कोई दुनियादार कह सकता है इस कदर माल होने के बावजूद आपने कभी माल का हिरस और लालच नहीं किया आपके दिल में माल की मोहब्बत न थी बल्कि आप दिन रात अल्लाह की राह में माल खर्च किया करते थे और आपके माल खर्च करने का आलम यह था कि रवायतों में आता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तंग दस को अनाज लेने के लिए हजरत उस्मान गनी की आपके घर भेजा हजरत उस्मान गनी के घर पर वो पहुंचा दस्तक देने ही वाला था कि अंदर से हजरत उस्मान गनी की ये आवाज आई कि आप अपनी जोजा को ये पूछ रहे थे कि बड़े अफसोस की बात है रात को तुम सो गई और चराग बुझाना क्यों भूल गई चराग पूरी रात जलता रहा और तेल का नुकसान हो गया तो उसने सोचा कि जो तेल के लिए इतना कुड़ रहे हैं वो मुझे क्या देंगे मुझे तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वापस जाने लगा फिर ख्याल आया कि हजूर पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा फिर दोबारा हजर खिदमत हुआ दरवाजे पर दस्तक दी तो उसी वक्त हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह के पास बाहर से माल आया था तो आप हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तुम उस शख्स को लेकर खेमे में गए और फरमाया देखो ये अनाज मौजूद है तुम्हें अल्लाह के रसूल ने भेजा है इसमें से जितना तुम्हें चाहिए उठाकर ले जाओ ये तुम्हारा है तो जब उसने ये सुना तो खामोश आपका मुंह देखने लगा आपने फरमाया क्या माजरा है तो कहने लगा कि ये माजरा है कि आप उस उस चराग पर इतना अफसोस क्यों कर रहे थे आपने फरमाया बात दरअसल ये है कि वो पूरी रात जलता रहा तेल का नुकसान हो गया वो किसी के काम नहीं आया फजूल नुकसान हो गया तो फजूल माल ज़ाया हो तो इस पर अफसोस होना चाहिए और जो मैं तुम्हें दे रहा हूं ये अल्लाह की राह में और अल्लाह की राह में माल देने से ज़ाया नहीं होता हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तु किस कदर अल्लाह की राह में माल देते थे आप इससे अंदाज़ा लगाइए सिर्फ एक गजबे की बात कर रहा हूं हजूर ने कई गजबे लड़े हैं लेकिन एक गजबे में गजब तबूक में हजरत सदरफादिल मौलाना नगीमुद्दीन मुराद आबादी रहमा तफसीर ख़जान और इरफान में आप इशाद फरमाते हैं कि आपने उस एक गजबे के मौके पर दस हजार दीनार दिए जिसकी मौजूदा वैल्यू तकरीबन पैंतालीस किलो सोना बनता है और आपने इसके अलावा दस हजार मुजाहिदीन का पूरा खर्चा दिया और इसके अलावा 900 ऊंट दिए और 100 घोड़े दिए ये एक गजबे में आपकी सखावत का ये आलम है हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तु के मुतालिक अगर कोई ये समझे कि वो दुनियादार हैं तो कितनी बड़ी कोताही है इन तमाम गुफ्तु का खुलासा यही है कि मीठा जहर दुनिया की मोहब्बत है वो मोहब्बत कि जो अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में जाने से रोक दे वो मोहब्बत जो हमें गुनाहों पर उभार दे अब अगर कोई शख्स ये कहे कि माशा हजरत ओस्मान गनी रदी अल्लाह तु की ख़जाने की तफसील सुनकर अब तो हमारा भी दिल ये चाहता है हम भी दुआ करें या अल्लाह हमें भी उस्मान गनी का ख़जाना अता फरमाए तो हम ये दुआ करते हैं कि अगर बेहतर हो तो अल्लाह ताला हम सबके के हक में ये दुआ कबूल फरमाए हलाल कमाई हो शुबे और हराम से पाक हो नाजायज जराए से पाक हो गुरूर तकबर फ़ख्र ना हो आजजी इनकसारी हो और कंजूसी ना हो खूब अल्लाह की राह में माल देता हो माल की मोहब्बत हिरस ना हो लालच ना हो और फिर हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तहु जैसा दिल भी हो कि दुनिया के हज़ारों मामलात के बावजूद जब नमाज का वक्त होता तो उस्मान गनी इस तरह नमाज अदा करते कि वह अल्लाह की बारगाह में खड़े होते और आंखों से आंसू जारी होते आज हमारी नमाजों का आलम और हजरत उस्मान गनी इस कदर मालदार होने के बावजूद अल्लाह की तरफ तवज्जो तो देखें कब्रस्तान जाते तो कब्र को देखकर जारो कतार रोते इतना रोते कि दाढ़ी मुबारक आपकी भीग जाती लोग पूछते तो आप कहते लोग कहते क्या बात है ए उस्मान गनी रदी अल्लाह तु आप जब कबर का जिक्र सुनते हैं तो बहुत रोते हैं जहन्नम का जिक्र सुनकर इतना नहीं रोते जितना कबर को देख कर रोते हैं आप ये इशाद फरमाते भाइयों कबर आखरत की मंजिल में से सबसे पहली मंजिल है इसमें कामयाब हो गया तो बकिया मनाजिल भी कामयाब है और इसमें नाकाम हो गया तो अगली मंजिलें भी नाकाम अगर ऐसी सोच मिल जाए तो फिर सुबहान अल्लाह लेकिन ऐसा आमतौर पर होता नहीं ये तो हुजूर की नजर इनायत थी ये हुजूर का करम था इतना माल होने के बावजूद नमाजों में इस कदर खुशो खुदू भी था माल से मोहब्बत न थी लेकिन आज हमारा तो यह आलम है अलमान वल हफीज़ अगर एक बिजनेस करके आ जाए एक सौदा करके आ जाए तो नुकसान हो जाए तो गम के अंदर कितने दिनों तक नमाज में दिल नहीं लगता और अगर नफा हो जाए तो खुशी में दिल नहीं लगता कौन सी ऐसी नमाज है कि शुरू से लेकर आखिर तक दो रकत भी हमने तवज्जो से अदा की हो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए फैज का मरकज है हमत व दानाई के ख़जाने नबी अक्रम सल्लल्लाहु वसलम को अता किए गए नबी अक्रम सल्लल्लाहु वसलम ने हमारे लिए क्या नमूना पेश किया अगर आप चाहते तो हजरत आयशा फरमाती हैं कि नबी अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि को अल्लाह ने क्या इख्तियार दिए थे इससे अंदाज़ा लगाइए हजरत आयशा फरमाती हैं कि नबी अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि बिस्तर पर सोए हुए थे वो चटाई का बिस्तर था चटाई बिछी हुई थी तो एक औरत खातून जब घर पर आई तो उन्होंने चटाई बिछी हुई देखी चटाई को देखा तो पूछा ये क्या है तो मैंने अर्ज किया कि ये हुजूर के बिस्तर मुबारक है वो खातून अपने घर पे गई और रुई का गदला सिया और गदला सी कर वो उन्होंने इस जगह रख दिया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तशरीफ लाए तो आपने हजरत आयशा से फरमाया ए आयशा ये रूई का गदला कहाँ से आया तो उन्होंने सारा वाक़ पेश किया तो आकद जहां सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया आयशा तुम क्या समझती हो क्या मैं दुनिया की सहूलतें हासिल नहीं कर सकता हदीस का खुलासा पेश कर रहा हूं आपने फरमाया आयशा अगर मैं चाहूं तो ये पहाड़ सोने के बनकर मेरे साथ चलें लेकिन मैंने आखरत को दुनिया पर तरजीह दी है हुजूर ने दुनिया को हमेशा के लिए ठुकरा दिया हजरत सिद्दीक अकबर फरमाते हैं कि मैंने देखा कि हुजूर किसी चीज को अपने आप से दूर कर रहे हैं उस वक्त आपके सामने कोई चीज मौजूद न थी मैंने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप किस चीज को दूर कर रहे हैं तो आपने फरमाया कि मेरे पास दुनिया मिसाली शक्ल में आई और दुनिया ने आकर मुझसे कहा कि मुझे कबूल कर लीजिए तो आपने फरमाया दूर हट जा मुझसे और मैंने उस दुनिया को अपने आप से दूर हटा दिया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साहबा कराम ने अर्ज किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बिस्तर बहुत सख्त है कुछ नरम बिस्तर रख लीजिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया माली वाली दुनिया मा आना फिर दुनिया आपने फरमाया मुझे दुनिया से क्या लगाओ इल्ला का राकिबिन इस्तवल्ला ताहता शजरतिन तुम्मा राहा मेरी मिसाल तो ऐसे है कि जैसे एक मुसाफिर हो वो सोने के लिए आराम के लिए किसी दरख्त के साय में आराम करता है और फिर सवार होकर रवाना हो जाता है मुझे दुनिया से कोई लगाव नहीं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को ठुकरा तो दिया लेकिन फिर भी हमारे लिए नमूना पेश किया आपने फरमाया कि अगर बिलफर्स किसी के पास दुनिया आ जाए तो उसे क्या करना चाहिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमूना पेश करते हैं बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है लवकान अली मिसल ओहदिन जहाबन लसर्रनी अल्लाह तमुर्रा अलैया सलासुलयालिन आप फरमाते हैं अगर मेरे पास ओहद पहाड़ के बराबर भी सोना हो तो मैं तीन दिन से पहले पहले सारा माल अल्लाह की राह में दे दूं सोना जमा करके ना रख उस्मान गनी का खजाना तो सभी मांगते हैं लेकिन क्या आपने तारीख का मुताला किया है उस्मान गनी ने कोई बंगला नहीं बनाया हजरत उस्मान गनी ने कोई महल नहीं बनाया आप कच्चे घर में रहा करते थे हजरत उस्मान गनी ने कोई गुरूर तकबर का इजहार नहीं किया आपकी आजजी इनकी सारी खशियत और अल्लाह की राह में माल आप इस कदर देते थे कभी आपने माल को जमा ही ना किया ये तो हुजूर की दुआएं थी कि इतना देने के बावजूद माल खत्म होने के बजाय और ही बढ़ जाता था हमारी तरह नोटों को गिनना बैंक में जमा कराना बैंक बैलेंस बढ़ाना और हर वक्त माल ही की धुन सवार हो जाना ये साहबा कराम का तरीका नहीं है और अगर हम हुजूर की सीरत को देखें तो हुजूर तो माल और दौलत से दूर रहे साहबा कराम में भी दो चार साहबा कराम हैं बहुत कम कि जो दुनियावी एतबार से मालदार थे लेकिन फिर भी उनकी जो जिंदगी आपके सामने पेश कर दी गई नबी अक्रम सल्ला वसलम माल को जमा करने से इस, इस कदर बचते थे कि हजरत बिलाल कहते हैं कि एक दिन कहीं से माल आया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल से फरमाया बिलाल इस माल को अल्लाह की राह में खर्च करो और आप घर पे नहीं गए मस्जिद नबी शरीफ में बैठे रहे आप जलवा अफरोज रहे हजरत बिलाल आए अर्ज गुजार हुए तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या सारा माल तकसीम कर दिया वो कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ माल बच गया है इसकी वजह यह है कि रात हो गई और गरीब लोग मुझे मिले नहीं हैं तो आपने फरमाया कि मेरे घर पर माल हो तो मैं घर पर नहीं जाऊंगा आपने पूरी रात मस्जिद नबी शरीफ में गुजारी कल दूसरे दिन सारा माल हजरत बिलाल ने तकसीम कर दिया इसके बाद आप जो है घर मुबारक पर तशरीफ ले गए यहां पर शैतान लगीन बड़ा खतरनाक वार करता है जब ये बातें सुनते हैं ना तो शैतान ये कहता है एक ही जुमले के अंदर सारी तकरीर पर वो पानी फेर देता है शैतान कहता है माशाल्लाह बातें तो बड़ी अच्छी हैं मगर कहाँ वो अल्लाह के नेक बंदे और कहाँ हम गुनागार हम थोड़ी चल सकते हैं ये तो बहुत मुश्किल है हमारे तो बस की बात ही नहीं है वो तो शान वाले थे और नबी की तो शान बहुत बुलंदो बाला है मैं आपसे पूछता हूं बताइए क्या नबी की सीरत और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत हमारे लिए नमूना नहीं है लक़द काना लकुम फी रसूल उसवत हसना कुरान फरमाता है कि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतलब कि ए लोगों तुम्हारे लिए हुजूर की जिंदगी बेहतरीन नमूना है तो हुजूर की सीरत हुजूर की सुन्नतें हमारे अपनाने के लिए हैं लेकिन चलें हम इतना तो नहीं कर सकते कि हम कल जाएं और सारे खजाने खाली कर दें और हम कच्चे मकानात में रहना शुरू कर दें ये हमारे नफ्स पर बहुत भारी है लेकिन चलें हम कम अज कम ये तो कर सकते हैं कि हम शरीयत की पाबंदी करें दुनिया की खातिर गुनाह ना करें अपने आप को बदनिगाही से बचाएं हिर से लालच से हसद से कीने से बुग से अदावत से मुसलमानों की दिल आजारियों से बचाएं जक़ात तो पूरी दें आज मुसलमानों की अक्सरियत जक़ात पूरी अदा नहीं करती हम कम से कम किसी रिश्तेदार में या पड़ोस में किसी गरीब को जानते हो उसकी मदद तो करें हम माल से मोहब्बत तो ना करें हम माल के गम में नमाजों को कजा तो ना कर दें या माल की लालच में और दुकान पर बैठे हैं नमाजें ज़ाया हो रही हैं जमातें छूट रही हैं ये तो ना करें कम अज़ कम फराइज और वाजिबात की तो पाबंदी करें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न सिर्फ दुनिया को वक़्त न दी बल्कि दुनिया की मजम्मत फरमाई और आपने फरमाया हब दुनिया रासुकुल्ल खती अतिन क्या इशाद है सुबहान अल्लाह आपने फरमाया दुनिया की मोहब्बत हर गुना और हर बुराई की जर है नबी अकरम सल्लल्लाहु वसलम के कलाम पर कुर्बान जाइए अल्फाज मुख्तसर हैं लेकिन गहराई कितनी है दोबारा सुनिए हब्ब दुनिया रासुकुल्ल खती अतिन दुनिया की मोहब्बत जिसे हमने मीठा जहर का नाम दिया हर गुना और बुराई की जड़ है वाकई आज ये दुनिया की मोहब्बत है कि भाई भाई से दूर हो गया नऊजुबिल्लाजालिक ऐसे भी दुनियादार लोग हैं कि बाप के मरने की तमन्नाएं की जा रही हैं इंतजार हो रहा है कि बाप मरे तो जायदाद मिले मोहब्बतें नफरतों में तब्दील हो गई उल्फतें दूरियों में बदल गईं दुनिया की दौलत की खातिर दोस्तियां खत्म हो गईं दुनिया के हसूल ही के लिए इंसान कर्जा लेता है अपने स्टेटस को बुलंद करने के लिए और उस वक्त सूदी कर्जा लेने में भी कोई दरेग नहीं की जाती तो सूदी कर्जा हो कि गैर सूदी कर्जा हो कर्जा एक बहुत बड़ा बवाल है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज के बाद ये दुआ किया करते ए मालिक को मौला मुझे कर्ज से महफूज फरमा साहबा ने अर्ज किया रसूल अल्लाह आप कर्ज से बचने की इतनी दुआ क्यों करते हैं आपने फरमाया ये बहुत बड़ा वबाल है कि जब इंसान मकरूज हो जाता है तो झूठ भी बोलता है और झूठा वादा भी करता है आप देख लीजिए कि जितने मकरूज हैं अक्सर झूठे वादे करते हैं झूठ बोलते हैं हाँ कल पेमेंट हो जाएगी परसों पेमेंट हो जाएगी धक्के खिलाते हैं बल्कि नऊज बिल्लाजालिक दुनिया की मोहब्बत ही की वजह से इंसान कर्जे को दबा लेता है जानबूझ के कर्जा नहीं देता हालांकि शरी मसला यह है कि किसी का कर्जा लिया हो और वक्त पूरा हो जाए वो मुतालबा करे तो अपने घर के सामान को बेच कर भी कर्जा अदा करना होगा लेकिन कर्जा अदा नहीं करते तंग करते हैं फिर कहते हैं मार्केट फैसला करेगी कंप्रोमाइज कर लो हमने पैंतीस लाख रुपए लिए बारह लाख पर सौदा कर लो बाकी माफ कर दो इस तरह जबरदस्ती करने से माफ करने से माफ भी नहीं होता और आला हजरत इमाम आल सुन्नत फरमाते हैं कि अगर किसी ने किसी के तीन पैसे लिए होंगे तो कल बरोज कयामत उसके कफ़ारे में सात सौ नमाजें बाजमात देनी पड़ जाएंगी एक नमाज बाजमात जो मकबूल हो हमने कहा अदा की है सात सौ वो नमाजें देनी होंगी जो बाजमात अदा की हों और मकबूल भी हों तीन पैसे के बदले में तो आज तो लाखों हड़प करके बैठे हुए हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी की नमाज जनाजा फरमाते अदा फरमाते तो पहले ये सवाल करते कि इस पर कर्ज तो नहीं है अगर तीन दिरहम का कर्ज होता तो आप उसकी नमाज जनाजा ना पढ़ाते आप फरमाते कि तुम अपने भाई की नमाज जनाजा अदा करो मैं ऐसे शख्स की नमाज जनाजा अदा नहीं करूंगा कि जो हालत कर्ज में इंतकाल कर जाए हाँ अगर कोई मरने वाले के पास इतनी जायदाद होती कि कर्जा अदा हो सकता या कोई साहबी कहते या रसूल अल्लाह अब करम फरमा दीजिए मैं जिम्मेदारी लेता हूं मैं कर्जा अदा कर दूंगा तो आप नमाज जनाजा अदा करते वरना नमाज जनाजा भी अदा ना करते तो दुनिया की मोहब्बत ही की खातिर इंसान कर्जा दबा लेता है ये दुनिया ही क्या की मोहब्बत है कि इंसान हराम में सूद में नाजायज लेन देन में मुलविस हो जाता है इंसान दुनिया ही की मोहब्बत में गुरूर तकबर का पुतला बन जाता है सीना तान कर सीने के गिरेबान के बटन खोल कर जूते पटक पटक कर वो चलता है अपनी कार से गुरूर तकबर से निकलता है ये दुनिया की मस्तियां हैं हुब दुनिया रसकुल्ली खतियतिन सदक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि दुनिया की मोहब्बत ही सारी बुराइयों की जड़ है ये मोहब्बत निकल जाए तो सब कुछ हल हो जाता है आज दुनिया की खातिर ही तो देखा देखी और नामो नमोद के लिए हम अपने पैसे को उड़ा देते हैं लाखों बर्बाद कर देते हैं अपनी औलाद को अपनी बीवी बच्चों को हम तबाह कर देते हैं बेपर्दा औरतों को लेकर घूमते हैं गैरत मिट जाती है बड़ी बड़ी इमारतें बड़े बड़े प्लान बनाते हैं नफे की खबर की उम्मीद में होते हैं लेकिन इससे पहले मौत की खबर आ जाती है सेठ जी को फिक्र थी कि एक एक के दस कीजिए मौत आ पहुंची हजरत जान वापस कीजिए ये दुनिया की मोहब्बतें हैं ये दुनिया की मस्तियां हैं ये दुनिया की उल्फतें हैं जिसने हमें तबाह कर दिया आज ये दुनिया ही की तो मोहब्बत है कि शादी ब्याह में नाजायज रसूमात पर पानी की तरह पैसा बहाया जाता है आज ये दुनिया की मोहब्बत ही तो है आज हमारी गुफ्तगु में झूठ गीबत चुगलियां वादा खिलाफियां और ना जाने किस कदर गुनाहों में पड़े हुए आज ये दुनिया ही की तो मोहब्बत है कि मौजिन हमें बुला रहा है हैया अलसला हैया अलफला आओ नमाज की तरफ आओ भलाई की तरफ अल्लाह का मुनादी बुला रहा है ये दुनिया की मोहब्बत तो है कि दुकान छोड़ने का दिल नहीं चाहता ये दुनिया की तो मोहब्बत है कि नकली माल असली कहकर बेच देते हैं मिलावट की जाती है एक ही हदीस पूरे बयान का निचोड़ है हुब दुनिया रासकुल्ल खतियत दुनिया की मोहब्बत हर बुराई की जड़ है अब आइए आखिर में हम ये समाप्त करें कि दुनिया की मोहब्बत निकले तो कैसे निकले और इस बीमारी से इलाज क्या है इस बीमारी से इलाज से पहले दुनिया की मोहब्बत की तबाही भी सुन लें हदीस पाक में फरमाया कि दुनिया की मोहब्बत जिसके दिल में आ जाए उसकी दुनिया भी बर्बाद होती है और आखरत भी बर्बाद हो जाती है और फरमाया अल्लाह ताला चार गम उस पर मुसलत कर देता है जिसका बस दुनिया ही दुनिया जिसके जहन में दुनिया ही दुनिया है और दुनिया ही के हसूल के लिए सारी कोशिशें हो रही हैं कब्र आखरत की फिक्र बिल्कुल नहीं तो फरमाया अल्लाह ताला चार मुसीबतें उस पर नाजिल करता है एक तो ऐसा गम दे देता है जो कभी ख़त्म नहीं होता ऐसी मसरूफियत देता है जो कभी जिससे कभी फुर्सत नहीं मिलती ऐसी मोहताजी देता है कि कभी वो दिल का मालदार होता ही नहीं जितना भी माल मिले उसकी हिरस और लालच बढ़ती जाती है और फरमाया ऐसी उम्मीदें और ऐसी ख्वाहिशात उसे दी जाती हैं कि जिसका कोई एंड और उसका ख़त्म इख्ताम नहीं आता हजरत ईसा अलबी हमारी सलात वसलाम एक बस्ती से गुजरे अजाब आया था सब हलाक हो गए आपने मुर्दों से पूछा कह बस्ती वालों तुम पर अजाब क्यों आया तो उन्होंने कहा हम दुनिया से मोहब्बत करते थे और इस मोहब्बत की वजह से अल्लाह की नाफरमानी करते थे हजरत ईसा सलाम ने फरमाया ये बताओ तुम्हें दुनिया से कैसी मोहब्बत थी तो उन लोगों ने कहा कि जैसी माँ को अपने बच्चे से मोहब्बत होती है इससे बढ़कर हमें दुनिया से मोहब्बत थी दुनिया आती तो खुश हो जाते जब दुनिया चली जाती तो हम गमगीन हो जाते अब सवाल ये है कि दुनिया के नुकसान दुनिया की मोहब्बत उल्फत ने हमें तबाह कर दिया आज वो मोहब्बतें उल्फतें ख़त्म हो गई जो आज से चंद सालों पहले हमारे असलाफ में आज से सौ दो सौ साल पहले जाइए तो हमारे बुज़ुर्गों में जो मोहब्बतें थी उल्फतें थी आपस में वो सब ख़त्म हो गई तो अब इसका इलाज क्या किया जाए ये वाकई ऐसा जहर है जो इतना मीठा है कि जिसमें तबाह होने वाले को तबाह होने से पहले उसका इल्म ही नहीं होता इसका इलाज क्या है तो फरमाया इसका इलाज ये है कि सबसे पहले तो हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस फरमान पर गौर करें देखिए दुनिया की जो मोहब्बत बढ़ती है वो अपने से आला को देखकर बढ़ती है आज जो हिरस बढ़ती जा रही है इसका एक सबसे बड़ा सबब फिल्में और ड्रामे हैं कि फिल्में और ड्रामों में वो अयाशियां दिखाई जाती हैं और फिर इसके अलावा हमारे यहां जो नामो नमूद हो गया इस नामो नमूद की वजह से भी दुनिया की मोहब्बत और बढ़ गई साहबा कराम अलीम रिदवान को हुजूर ने किसी को भी पक्का नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी साहबी को पक्का घर बनाने की इजाज़त ना दी इसकी वजह यही थी कि जो गरीब लोग हैं उनके अंदर माल और दौलत की हिरस बढ़ेगी यहाँ तक एक साहबी रसूल ने अपने घर को पुख्ता बनाया और उसे उस पर गुंबद बनाया तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे नापसंदीदगी से देखा तो आपने उसको तोड़ के बराबर कर दिया और नबी अकरम सल्लल्लाहु वसलम वसल्लम उस पर खुश हुए तो सबसे बड़ा जो दुनिया की मोहब्बत बढ़ने का जो सबब है वो अपने से आला को देखना है और यही एक दूसरे की नकल ऐसा से बढ़तरी हासिल करने का जज्बा और मैं सबसे आगे हो जाऊं और एक दूसरे से एक दूसरे की देखा देखी जो है इसने हमें तबाह कर दिया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका बहुत प्यारा हल इशाद फरमाया फरमाया इदा नजोरा आहादुकुम इला मन फुद्दिला अलैहि फिल माल वल जब तुम्हारी नजर उस पर पड़े जो माल में तुमसे आगे हो फल यमुर इला मन हुआ असफल मिन हो तो तुम उसे देखो तुम्हें चाहिए कि वो उसे देखे जो तुमसे अदना है अपने से निचले शख्स को देखा जाए वाला तंदुरु इला मन हुआ फ़ौकम अपने से ऊपर लोगों को ना देखो अपने से नीचे लोगों को देखो अगर आप फ्लेट वाले हैं तो ऐसी बस्तियों में ज़रा जाइए कि जो फुटपाथ पर सोते हैं उनके पास छत मौजूद नहीं है ऐसे गरीबों से ताल्लुकात पैदा कीजिए लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि हम ऐसे गरीबों के पास उठना बैठना अपनी तोहन समझते हैं हमारा उठना बैठना या तो हमारे बराबर वालों के साथ है या हमसे आला लोगों के साथ है जिसकी वजह से हिरस बढ़ती है और नाशुक्री पैदा होती है एक तो इसका यह हल है दूसरा दुनिया की मोहब्बत निकालने का दूसरा हल ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सोच अता फरमाई आपने फरमाया कि यतबाउल मैता आहलू अमालू अमलू मैत जब कब्र में जाती है तो तीन चीज़ें उसके पीछे रहती हैं यानी मरने वाला जब मरता है तो उसके पास तीन चीज़ें होती हैं एक उसके रिश्तेदार हैं घर वाले हैं एक माल है और एक उसका अमल है आपने फरमाया कि माल घर पे रह जाता है रिश्तेदार साथ देते हैं लेकिन कब्र पर रिश्तेदार भी बाहर खड़े रह जाते हैं और कब्र के अंदर उसके आमाल आते हैं तो जब कब्र की सोच पैदा हो तो फिर दुनिया की मोहब्बत निकल जाती है इंसान मरने वालों और उठने वाले जनाजों को देखकर इबरत हासिल करे तो दुनिया की मोहब्बत ख़त्म होती है और खसूस अल्लाह ने अगर माल दिया है तो उस माल को खूब अल्लाह की राह में दे क्योंकि मुफसरीन फरमाते मुहदसिन फरमाते हैं कि जब इंसान यहां की सारी चीजें आखिरत में भेजेगा तो फिर इंसान की फितरत है कि जहां उसका माल होता है वहीं जाने का दिल चाहता है तो जब उसने आखिरत के घर की तैयारी की होगी तो यहां से वहां जाने का दिल चाहेगा और दुनिया की मोहब्बत निकल जाएगी और फरमाया कि दुनिया को ये समझे कि ये दुनिया जो है ये मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर तो हमें यहां कैद में रहना है शरीयत की पाबंदी की कैदें हैं और जो इसे कैद खाना समझेगा अल्लाह आखरत में जन्नत अता फरमाएगा तो जब ये सोच बनेगी तो वो दुनिया की मोहब्बत से बचते हुए शरीयत की पाबंदी करेगा और फिर फरमाया कि इसका एक हल ये भी है कि इंसान ये सोचे आज दुनिया की जितनी भी दौलत हो कितनी भी दौलत हो करोड़पति हो बल्कि पूरी दुनिया का बादशाह हो वो ये गौर करे कि मैं कब तक इस दुनिया में रहूंगा ये कब्र आखरत की जो सोच है इस सोच को इस अंदाज में पेश किया जा सकता है कि वो सोचे कि मैं कब तक दुनिया में रहूंगा अब वो सोचे कि मसलन मेरी उम्र इस वक्त तीस साल है अब मैं ज्यादा से ज्यादा मजीद तीस साल जिंदा रह सकता हूं वो ये गौर करे और फिर ये सोचे कि मुझे तीस साल गुजारने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत है तो इतना माल मेरी जरूरत का है तो जरूरत का माल रख ले और इससे जायद जितना भी हो वह अल्लाह की राह में दे दे अब जो जरूरत का माल है उसमें जैसे जैसे उम्र घटती जाए वो उस माल को भी निकालता जाए कि अब उम्र कम हो गई अब तो माल की मुझे इतनी हाजत नहीं है ये इब्तदाई स्टेज है और फिर आहिस्ते आहिस्ते वो इस स्टेज पर पहुंचेगा कि वो ये सोचेगा कि तीस साल देखे किसने हैं कल का भरोसा नहीं आज अगर मेरी जो ज़रूरत है इसके अलावा जितना माल है वो बेएतबार है अगर आज आंख बंद हो जाए तो ये माल किस काम का होगा असल में बात क्या है कि दुनिया की जो मोहब्बत है ये इंसान के दिल को जंग आलूद कर देती है दिल सख्त और सिया हो जाता है और फिर जब तक दिल की सफाई ना हो दुनिया की मोहब्बत निकलती नहीं है आइए हदीस पाक की रोशनी में हम ये समात करें कि दिल की सफाई कैसे हो अकैद जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाद फरमाया तस्तुल कुलूब कमा यस्ताउल हदीद जैसे लोहे को जंग लगता है वैसे ही दिलों को जंग लग जाता है कीला वमा जिला उहा या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्ज की गई या रसूल सल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिलों की पाकिजगी और सफाई कैसे हो यह जंग कैसे दूर हो आपने फरमाया मौत को कसरत से याद किया जाए और कुरान पाक की तिलावत कसरत से की जाए तो जब वो मौत को याद करेगा इमाम गजाली रहमान ने मौत को याद करने का बहुत ही प्यारा तरीका इशाद फरमाया आपने फरमाया कभी तनाई में बैठ जाओ आंखें बंद करो और आंखें बंद करके ये तस्वुर करो कि मेरा मेरे फला मेरे फला रिश्तेदार मेरे वालिद मेरी वालदा मेरी दादी मेरी दा, मेरी नानी इस तरह के मुख्तलिफ रिश्तेदारों को तस्वुर में लाए उनका खेलना उनका हंसना उनका बातें करना उनका मजा करना दुनिया की अयाशी करना इस तरह के जो भी वाकयात हों अपने रिश्तेदार अपने दोस्तों अजीज अकारिब दुनिया के जितने भी लोग हैं उनको तस्वुर में लाए खास तौर पर जिससे ज्यादा कुर्ब हो उसको तस्वुर में लाए और ये तस्वुर करे कि वो जिंदा है और सब कुछ वो इसको तस्वुर करने के बाद अब ये समझे उसका इंतकाल हुआ और मैंने उसे कब्र में दफन किया वह सारे तस्वुरात को लाने के बाद अब ये सोचे कि एक न एक दिन मुझ पर भी वो आएगा कि वो दिन ज़रूर आएगा जो मेरा आखिरी दिन होगा तो बस जब वो मौत का तस्वुर करने में कामयाब हो जाएगा तो हजूर फरमाते हैं दिल पाकिज़ा हो जाएगा और जब दिल से जंग दूर हो जाएगा तो दुनिया की महब्बत ख़त्म हो जाएगी और कुरान की तिलावत कसरत से की जाए कि कुरान को समझना और कुरान पर अमल करना ये दिलों की पाकिजगी का सबब है और फरमाया कसरत तोबा तोबा की कसरत की जाए और फरमाया इसके साथ साथ दुनिया की मोहब्बत दूर करने के लिए एक अच्छे माहौल से वाबस्ता हो जाए अच्छे नेक दीनदार शख्स को अपना दोस्त बना ले इन शजल जब वो ये सारी बहारों में पहुंचेगा तो दुनिया की मोहब्बत उससे निकल जाएगी दुनिया की मोहब्बत अगर निकल गई तो बड़ी कामयाब जिंदगी गुजारेगा और अगर दुनिया की मोहब्बत बाकी रही तो ये दुनिया हमें तबाह कर देगी हमें बर्बाद कर देगी प्यारे और मोहतरम भाइयों इस मीठे जहर का इलाज बहुत जरूरी है और इस इलाज के लिए एक बेहतरीन मौका अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ानुल मुबारक होता है कि रमज़ान का वो मुबारक महीना कि जिसके दिन भी बरकतों वाले होते हैं रातें भी बरकतों वाली होती हैं जिसमें इंसान रोज़े रखता है और रोज़े की बरकत से नफ्स उसके कंट्रोल में होता है और शैतान बंद होता है और रमज़ान की वो मुबारक रातें कि जब मुनादी ये निदा दे रहा होता है है कोई रहमत का सवाली के उस पर रहमत की जाए है कोई मगफरत का सवाली के उस पर मगफरत उसे मगफरत की बिशारत दी जाए जब ऐसी सदाएं आ रही हों और हम तरावी में मौजूद हों कुरान समझ रहे हों समझने के बाद कुरान तरावी में समात कर रहे हों ऐसा यादगार रमज़ान जब हम गुजारेंगे तो इन ताला कुरान की बरकतों से ऐसा गर्म होगा रमज़ान मुबारक की बहारें होंगी जहां हम रो रो कर अल्लाह की बारगाह में इस जलील दुनिया की मोहब्बत निकलने की दुआएं करेंगे अल्लाह करम फरमाएगा और अल्लाह ताला हमें इस यादगार रमज़ान गुजारने के सदक़े में इन शजल हमें इन शाह इन हमें अपनी और अपने महबूब की मोहब्बत अता फरमाएगा और दुनिया की जलील मोहब्बत हमारे कल्ब से निकल जाए तो आज से जहन बनाइए तकरीबन डेढ़ महीने से भी जायद अरसे पहले आपकी खिदमत में ये पैगाम दिया जा रहा है अभी से जहन बनाइए कि यादगार रमज़ान गुजारना है अपने अवकात की तरकीब कीजिए सेटिंग कीजिए और जहन बनाइए कि रमज़ान यूं तो कई गुजारे हैं लेकिन एक रमज़ान तो ऐसा गुजर जाए और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल जब ये तरावी पढ़ी गई सवा आठ बजे से लेकर साढ़े बारह पौने एक बजे तक ये नशिश होती थी आप सुनेंगे तो आपको हैरत होगी को हो साढ़े चार घंटे लेकिन अल्लाह का करम इतना और ये कुरान की तासीर है अल्हम्दुलिल्लाह तमाम ही लोगों की ये अक्सर लोगों के तासरात थे कि हम जो सवा पारा मस्जिद में एक घंटे में अदा करते हैं वो हमें मुश्किल लगता है लेकिन जो कुरान की बहारों में तरावी सुनते हैं उसमें इतना ज़ोक आता है कि दिल चाहता है कि कारी साहब पढ़ते रहें और हम सुनते रहें अलहमदुल्ला रबीआलमीन ऐसा ज़ोक भी बना कि हाफिज साहब कुरान की तिलावत कर रहे हैं उससे पहले कुरान का तर्जम और तफसीर सुनते हैं और फिर चार अकात के लिए खड़े होते हैं तो जब जब कुरान पाक का तर्जमा तफसीर सुनने के बाद जब हाफिज साहब कुरान पढ़ने के लिए खड़े हुए अलहमदिल्ला ऐसी रहमतों की बारिशें हुई कि हाफिज साहब पर भी रिक्कत तारी है सामाइन पर भी रिक्कत तारी है और वो जो ओक़ है कि कुरान इस तरह सुना जाए कि जब जब तरावी के अंदर अजाब इलाही की आयात सुने तो आंखों से आंसू निकलने लगे वो ओक़ और वो कैफियात के नमूने नज़र आए अलहमदिल्ला अल्लाह तबारक व ताली का करम है आप भी अपना जहन बनाइए और कुर्बानी दीजिए दुनिया के लिए लोग कितना कुछ करते हैं रमज़ान मुबारक में लोग सारी सारी रात ड्यूटियाँ करते हैं और रमज़ान को कहते हैं कि दुनिया कमाने का ये महीना है हम कहते हैं रमज़ान नेकी कमाने का महीना है वो पूरी पूरी रात ड्यूटियाँ करते हैं दिन को भी नहीं सोते दर्जियों की हालत देखें वो कितनी मेहनत मशक्क़त करते हैं हम सिर्फ तीन चार घंटे जब अल्लाह की राह में देंगे अल्लाह ताला खैर व बरकत अता फरमाएगा रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इस बयान को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए और कुरान हदीस के नूर से ऐसा मुस्तफ़ फरमा दे ऐसा मुस्तफ़ फरमा दे कि दुनिया की जलील मोहब्बत हमारे दिल से निकल जाए अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत से हमारा दिल जगमगा उठे और कुरान के जर्रीन उसूलों पर हम अमल पैरा हो